ऐ मेरे अब्बा बेशक मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया आप मेरी पैरवी कीजिए मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा